कहाँ से चलेगा पंचम मंत्र हो गया पंचम मंत्र पूरा हुआ था नहीं हुआ था क्या था, था? चलेगा अथयोर्ध्वसति सवदान सवायु सकाश तदेत ऊर्जस् महच्चेतुपासित ऊर्जस्वी महस्वान भवती एवं वेद ऊपर दिशा में छिद्र है उदान है वायु आकाश है ओज और मह ये दो गुण से उसकी उपासना करे तो उपासना का फल ओजस्वी और महस्वान ये दृष्ट फल है ओजस्वी ओज शक्ति है मह तेज है प्रकाश है हृदय से उद्ध छिद्र वैचित्र्य उदान वायु आकाशच इति तृतीय अन्योन्य संबंध उपासन है पर छिद्र वैशिष्ट न उदाहरण एक उदाहरण है प्राण में से और बाह्य वायु और आकाश तीनों अन्योन्य संबंधम परस्पर संबंध है ऐसे उपासना करनी चाहिए अतएव से अतएव से ऊर्धस्थिति सौदान आपादतलात् आरभ्य ऊर्धम उत्क्रमणात् उत्कर्षार्थम से कर्म अनित्य तो उदाहरण आ पाद तो पाद तल तो से ले करके आरंभ करके ऊर्धम उत्क्रमणा ऊपर चलता है उत्कर्षार्थम से कर्म कुर्बन उत्कर्ष के लिए कर्म करते हुए अनिति प्राण से व्यापार करता है इति उदाहरण सवायु वो वायु है तद आधार से आकाश वायु के आधार आकाश भी तद वायु आकाश ओज हेतुत्वाद ऊर्जा बल वायु और आकाश दोनों ओज शक्ति शारीरिक शक्ति का कारण होने से ओज हो गया बलम और महत्व से महव महाने समान मनती का नहीं उत्क्रमणा उदाहरण के संबंध उत्क्रमणा उदाहरण उदाहरण तृप्यति वायु तृप्यति वाक्य से समासित आह उदान वायु दोनों की एकता नहीं हो तो उदान पृथक पर वायु पृथक कैसे होगा इसलिए से स वायु वायु और आकाशत्व आदि संबंधा वायु तृप्य आकाश तृप्य दो हेतु है वायु आकाश दोनों है वायु आकाश रूप है क्योंकि वायु है आधे आकाश है आधार और श्रुति में कहा गया वायु तृप्यति आकाश तृप्यति वायु तृप्त होने आकाश तृप्त होता है तदाधार से तदेत उदनाख्यम ब्रह्म पूर्वत ओजो महस्य इस उपासना करे इसे आख्यान विचित्रम उपासित इस उपासना करे उक्त गुणद्वयम निर्दिशति वायु आकाशे ओज हेतुत्व ऊर्जा शक्ति कहते हुए इत्यादि वाक्य से कीर्तिमान इत्यादि तुल्यार्थत्व आह भाष्य में क्या समान अन्य इसकी व्याख्या नहीं कि ओजस्वी महस्वान भगवती है एवं वेद जो ओजस्वी होता है और महा भगवान होता है ये जो कहा ये तो उसकी व्याख्या कीर्तिमान दृष्टिमान होते पहले कहा था उसके समान होने से उसकी व्याख्या अलग से नहीं की गई तस्य हवा तस् इत्यादि में उत्तम अनुभवती अनुभवती जो वायु सब अलग अलग शीघ्र प्राण उसे प्रारंभ किया गया तस्य हवा तस्य ये प्रारंभ पूर्व दिशा से तस्य हवा तस्य हृदय से पंचदेव यहाँ से प्रारंभ हुआ था तस् हवा तस्य इत्यादि में उत्तम अनुभवती ते वायते पंच ब्रह्म पुरुषा स्वर्ग से लोक से द्वारका सहेतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्ग से लोक से द्वारपान वेदास्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्गम लोकम ये एतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्ग से लोक से द्वारपान वेद ये पांच है ब्रह्म पुरुष सेवाते पंच ब्रह्म पुरुष प्रथम मंत्र में त्रय में कहा था स्वर्ग से लोक से द्वारका सर्ग रूप सर्ग है ब्रह्म आर्द पुरुष उसके द्वारा पालक के द्वारा रक्षक है स एवं पंच ब्रह्म पुरुषान वेद ये जो पांच ब्रह्म पुरुष है सर्ग है आर्द ब्रह्म उसके द्वारा पाल है इसको उपासना करता है अशोक वीर हो जाए थे तो इसके कुल में वीर पुत्र उत्पन्न होता है सर्ग प्रतिपद्यते लोकम सर्ग लोक ब्रह्म को प्राप्त करता है उपासक क्रम से यह एवं पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्ग से लोक से द्वारका मिलेगा ये पांच अर्थ ब्रह्म का द्वारपा है द्वारपाल इनकी उपासना जो करता है तो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है कथम ब्रह्म पुरुषा तथा राजपुरुषा भाष्य में तेवायते यथोत पंचसूची संबंधात पंच ब्रह्मण हार्द से पुरुषा हार्द ब्रह्म के पुरुष है पंचसुषि संबंध होने से और हार्द ब्रह्म का पुरुष कैसे राजपुरुषा एवं द्वार था जैसे राजपुरुष द्वार से विकसित है द्वार विकसित है स्वर्ग से लोक से द्वार था स्वर्ग का आर्द से रूप सहदेव स्थित आर्द ब्रह्म ये उसके द्वारा काल है व्यपदिश्य अर्थ इसे द्वारपाल कहे जाते हैं तेषा द्वारपाल तुम प्रपंचती तो द्वारपाल कैसे इसके विस्तार करते एते भी चक्षु शत्रवान मन प्राणी बहिर्मुख प्रवृत्ति ब्रह्म आर्द से प्राप्ति द्वारा निर्मित है ये चक्षु स्वत वांग मन प्राण आदि जितने सब ये बहिर्मुख प्रवृत्त होते हैं बहिर्मुख प्रवृत्त होने से क्या होता है आर्द ब्रह्म प्राप्ति के द्वारा निरुद्ध हो जाते हैं इनके द्वारा वो रुके हुए इसलिए वो है द्वारपाल तथा स्वानुभव प्रमाणित अपना अनुभव प्रमाण करते हैं प्रत्यक्ष में एक अजित करणतया बाह्य विषयासंगा प्रत्युतवान न हार्द्य ब्रह्मण मन तिष्ठते ये सब का प्रत्यक्ष है मन हार्द्य ब्रह्मण स्थिर नहीं रहता है अजित कर्णतया अजिता जितानी करणानी ये न सजित करण अजितानी करणानी है स अजित कर्ण इंद्रिय को जीता नहीं तो बाह्य विषय में आसक्ति होगी बाह्य विषय आसंग और अन्य तो प्रतिभूता अन्य तो मिथ्या वस्तु में आरूढ़ मिथ्या वस्तु ग्रहण करता है मिथ्या वस्तु जब तक ग्रहण करता है आसक्ति है तो हार्द ब्रह्म में मन स्थिर नहीं होता है टीका में विवेक वैराग्याभ्याम वशीकृत सूत्राधिकरण ग्राम ग्रामोपे अभाव परोक्ष शब्दादि विषय आसंग अनुदाक्रम का वित्यर्थ विवेक वैराग्य से तो इंद्रियों का वश होता है जय होता है उनकी विवेक चाहिए और वैराग्य भी चाहिए आत्मा अनात्मा विवेक करते और अनात्मा से वैराग्य होना चाहिए आत्मा अनात्मा विवेक दीर्घ तभी होता है जो वैराग्य होता है वैराग्य होता है विवेक दीर्घ होने पर तो विवेक वैराग्य से ही वसीकृत सूत्राधिकरण ग्राम होते तत्वा सूत्राधिकरण ग्राम कर्ण समुदाय वसीकृत होते विवेक वैराग्य के द्वारा ऐसे इंद्रिय समुदाय युक्त यदि होगा तब तो ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी यदि इसे इंद्रिय वसीकृत इंद्रिय ग्राम युक्त तो नहीं है तो कोई तत्व अभाव परोक्ष शब्दादि विषय आसंग जो शब्दादि विषय है परोक्ष क्या जो प्राप्त नहीं हुआ उसके लिए परोक्ष शब्द का टिकन इंद्रिय आलम्ब जो विषय प्राप्त है उसमें आसक्ति ईशानी कृष्णा नहीं होती अप्राप्त विषय की इच्छा होती है अप्राप्त को परोक्ष शब्द से कहा जो इंद्र का विषय नहीं हुआ इंद्र के द्वारा जिसका ग्रहण नहीं हुआ उसको ग्रहण करना चाहता है वो करना चाहता है शब्द आदि विषय आसंग आसक्ति आक्रांत अमृत मिथ्या वस्तु में मन आक्रांत है मन में मिथ्या वस्तु के द्वारा खींचा जाता है तो मन भी स्थिर नहीं होता है अर्ध ब्रह्म में एतरव विषय विमुखे ब्रह्म प्राप्ति द्वारा समाधियादिना विभूता अभिकृत उपसार विषय विमुख है विषय विमुख विषय विमुखे विषय विमुख करना विषय को छोड़ करके ब्रह्म प्राप्ति द्वारा समाधियादिना विभूता इनके द्वारा विषय विमुख होने पर ब्रह्म प्राप्ति का जो मार्ग द्वार है वो खुल जाते हैं रुक रखे जब विषय अभिमुख होते तो रास्ता रुक लेते हैं विषय विमुख हो गए तो ब्रह्म प्राप्ति द्वारा विवृत खोल खुला हो जाता है समाधि आदि ना समाधि आदि करने से द्वार खुलता है फिर ब्रह्म प्राप्ति होती है इसे अभिप्रा से कहते तस्मार सत्यम उत्तम एक पंच ब्रह्म पुरुषा स्वर्ग से लोक से द्वारका इति ये जो कहा गया था पांच ब्रह्म पुरुष भारत ब्रह्म प्राप्ति के द्वारा के रचक ये ठीक यथार्थ कहा गया है ब्रह्म पुरुषान उत्तान अनुद्य सफल उपासना दर्शेगी जो ब्रह्म पुरुष कहे गए उनका अनुवाद करके उपासना दिखाते सफलम फले न सह अतः अत स्तय एतान एवं यथोत गुण विशिष्टान स्वर्ग से लोक से दाटकान वेद उपास उपासना वसी करोती स राज द्वार पाला इव उपासना न वसीकृत ते अनव प्रतिपद्य प्रतिपद्यते स्वर्गम लोकम राजा न ब्रह्म अथ स एवं एतान पंच ब्रह्म पुरुष की उपासना करता है एवं तचार्थ क्या यथोत गुण विशिष्टा ये तो गुण विशिष्ट ब्रह्म पुरुष की उपासना करता है स्वर्ग से लोक से द्वारपाल स्वर्ग लोक हार्द ब्रह्म उसके द्वारपाल उनकी उपासना करता है वेद का उपास्य उपासना करना थोड़े ध्यान कर दिया छोड़ दिया ऐसा नहीं उपासना वशी करती ये उपासना ध्यान करना है तब तक ध्येय ध्यान ध्याता है त्रिपुट रहित एकाग्र हो जाए निरंतर इसी प्रकार उपास का तो उपासना करता है थोड़ी दस मिनट पंद्रह मिनट उपासना कर लिया ऐसा नहीं उपासना या वशी करो तो द्वारपाल को अपने अधीन कर लेता है तभी उपासना जिस प्रकार राज्य के द्वार रक्षक है उनको अपने अधीन कर दिया उनको उनके अनुमति से फिर आगे राजा के पास जाते हैं राज द्वार पालानी व उपासना वशीकृत्य राजा के जो द्वारपाल जैसे उनके उनके अपने अधीन कर लेते उपासना सेवा के द्वारा तत्कार के द्वारा ते अनिवार्यत प्रतिपत्ति से सरकार लोगों तो फिर द्वार रक्षक निवारण नहीं करके रास्ता छोड़ देंगे तो सरगम लोकम प्रतिपद्य जिस प्रकार राजा नाम राजा को जैसे प्राप्त करते हैं लोग आर्द ब्रह्म स्वर्ग लोग आर्द ब्रह्म और नियतानाम नाम ब्रह्म प्राप्ति प्रतिबंधक नियता नाम तो तत्प्राप्ति हेतुत्म इत शब्दार्थ चक्षुरादि जब नियत नहीं नियमित नहीं संयम नहीं हुआ तो ब्रह्म प्राप्ति का प्रतिबंधक है नियत हो गया उनका संयम उनको जीत लिया तो प्राप्ति हेतुत्व तो ये अत शब्द का अर्थ केवा शत्रव निजे इंद्रिया तान्यव मित्राणी जितानी जानी भगवत्पाद ने कहा प्रश्न करें शत्रु कौन है निजे इंद्रिया और वही मित्र भी हो जाते जब उनको जीत लिया अनियत असंयत चक्षुराज इंद्र ब्रह्म प्राप्ति का प्रतिबंधक है अनियत उनका संयम हो गया तो प्राप्ति का हेतु हो जाती है इसलिए पंच ब्रह्म पुरुष की जो उपासना करते हैं राग ब्रह्म को प्राप्त करते हैं यथोक्त गुण विशिष्टत्व एवं का तो यथोक्त गुण विशिष्टान सर्गलोक द्वारपान वेद यथोक्त गुण विशिष्ट कैसे चक्षुरादिना आदित्यादि आत्मतत्व सब अलग अलग इंद्रियों को अलग अलग देवता रूप का अदृष्टम फलम उत्तर दृष्टम फलम आह अदृष्ट फल कहते दृष्ट फल कहते किंच अस्य विदुष कुले वीर पुत्र जायते वीर पुरुष से बना अदृष्ट तो फल है अस्य विदुष उपास के कुल में वीर पुत्र वीर पुरुष की सेवा करने से कुल में वीर पुत्र जायते यथोत पुत्रोत्पत्ति विवक्षित ब्रह्म प्राप्त अनुपयुक्त आशंका तो वीर पुरुष पुत्र उत्पन्न हो जाए तो क्या प्रश्न प्रयोजन है कोई ब्रह्म प्राप्ति का तो हेतु नहीं होते पुत्र या सत्य पुत्र स्मृति वीर पुरुषों की उत्पत्ति विवक्षित ब्रह्म प्राप्ता अनुपयुक्ता आर्द ब्रह्म प्राप्ति के लिए उनका कोई तो उपयोग नहीं इस आशंका तस्य चरणापकरण ब्रह्मोपासन प्रवृत्ति हेतुत्व ब्रह्मोपासन में प्रवृत्ति का हेतु है पुत्र ब्रह्मोपासन में प्रवृत्ति होगी पाप अधिक होता है तो वेदांत श्रवण क्या ध्यान तो ये भी नहीं होता है उपासना नहीं होता है प्रतिबंधित होते हैं इसी प्रकार कुछ वर्णाश्रम धर्म है ऋण है ऋण कुछ कर्तव्य है शास्त्रीय जब तक वो नहीं करे उपासना में भक्ति में प्रवृत्ति नहीं होती है हम भक्ति करते ही करके उपासना करते करके सब मर्यादा को छोड़ कर खाली भक्ति कर ले उसे भक्ति होती ही नहीं जिसका जो धर्म है धर्म पालन करके उपासना करनी चाहिए पुत्र होने से क्या पुत्र ऋण करने ऋण मोचन पुत्र के द्वारा होता है कम से ऋषि से मुक्त होता है पितृण मुक्त से मुक्त होता है श्राद्ध तर्पणादि करने से और वेदाध्ययन करता है यज्ञ आदि करता है देवरण के लिए तो यज्ञ आदि करता है श्राद्ध आदि करता है इस करके ऋणा अपकरण करके ऋण अपाकरण होने से ही ब्रह्मोपासन में प्रवृत्ति क्या है पुत्र पुत्र से ध्यानानुसारित्व तत्शब्दार्थ ध्यान के अनुसार ध्यान के अनुकूल होगा पुत्र ततच सर्गोलोक प्रतिपत्त पारंपरेण भवती भी सर्गोलोक प्रतिपत्तिरव एक फलम सर्गलोक ब्रह्म प्राप्ति का हेतु होता है पुत्र परंपरा से सर्गलोक प्रातिपत्ति प्राप्ति एक ही फल हुआ पारंपरिक का तो उपासना द्वारा ना उपासना के द्वारा ही पुत्र से ऋणा उपकरण होने पर उपासना में प्रवृत्ति होती है उपासना के द्वारा सर्व ब्रह्म की प्राप्ति होती है पुत्र से ध्यान द्वारा ब्रह्म प्राप्ति हेतु के फलित आह ध्यान ऋणा उपकरण से ध्यान ध्यान के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति उसका हेतु पुत्र फलित इति सर्ग स्वर्गलोक प्रतिपत्ति रेतुम फल स्वर्गलोक प्राप्ति फल हुआ गायत्री उपाधिकम ब्रह्म उपास्यम तादर्थ्यन द्वारपाल उपास्य कर्तव्य ततस्ंगे से सूता पड़ा समुचित प्रधान उपासनादेव ब्रह्म प्राप्ति विशिष्ट गायत्री उपाधिकम ब्रह्म उपास्य गायत्री उपाधि गायत्री उपाधि के ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए ये पहले कहा गया था तादर्थ्य में द्वारपाल उपास इससे कर्तव्य गायत्री उपासना करने के लिए गायत्री उपाधि के ब्रह्म उपासना करने के लिए द्वारपालों की उपासना भी करनी चाहिए ततश्च अंगे से सुताने फलानी अंगे से फलश्रुति अंग में जो कर मिल करके प्रधान उपासना से ही ब्रह्म का से उत्तम द्वारपाल उपासना से फल कहा विरोध आदि जो फल है समुचित मिला करके प्रधान उपासना देव ब्रह्म उपासि प्रधान ब्रह्म है गायत्री का ब्रह्म उसकी उपासना से ब्रह्म प्राप्ति कही गई इधानी विद्यांतरम प्रस्तुति अन्य उपासना का आरम्भ करते अथ यद परो दिव ज्योतिर्दीप्य विश्वत पृष्ठेशु सर्वत पृष्ठे समु लोके सिद्धम भागवत तद अंत ज्योतिष दृष्टि तदस्मिन शरीर सस्पर्शेनोस्मिन उष्णीबाण तसेचा श्रुति यत्री गृह निनदमिव नदत्थुरीवाग्निरव जलत उपस्मृति तदेतदृष्टं च श्रुतं चेतुपासीत चक्षुषया श्रुतो वेद वेद अथ यद अतः पर दिव ज्योति दिव अतः दिव पर ज्योति ये द्यूलोक के ऊपर जो ज्योति प्रकाश है दीप्यते विश्वत दृष्टिशु सबके ऊपर दीप्यते विश्वत सर्वतः सबके ऊपर प्रकाशमान है विश्वत पृष्ठेशु का अर्थ सर्वत पृष्ठेशु सबके ऊपर है अनुत्तमेशु उत्तमेशु जो अनुत्तम और वही उत्तम हो सकता है अनुत्तम ही उत्तम है सत्य में तो सत्य में तो उत्तम जो होगा वो अनुत्तम हो सकता है उत्तम भी है और अनुत्तम भी है अनुत्तमेश से यदि उत्तम है तो अनुत्तम कैसे होगा उत्तम ही अनुत्तम है रूप अरूप है रूप अरूप हो सकता है होता है रूप भी अरूप होता है पुत्र अपुत्र है पुत्र किसे अपुत्र होगा पुत्र का यदि पुत्र नहीं वह पुत्र है ना नहीं पिता का तो पुत्र है उसका पुत्र नहीं जिसका पुत्र नहीं उसको अपुत्र कहते हैं उसका पुत्र नहीं होने से अपुत्र हुआ वो स्वयं पुत्र है क्या हाँ नहीं स्वयं तो पुत्र है किंतु उसका पुत्र नहीं होने से अपुत्र हुआ स्वयं तो रूप है उसका रूप नहीं होने से अरूप विद्यमान रूप में से तद अरूपम अनुतम उत्तम के सिवा उत्तम श्रेष्ठ है और अनुतम के सिवा अविद्यमान उत्तम ये प्य जिनसे बढ़कर के उत्तम है ही नहीं वो अनुत्तम है जिससे बढ़कर के उत्तम नहीं है वो सबसे श्रेष्ठ होगा या निकृष्ट होगा निकृष्ट होगा ना उत्तम होगा जिनसे बढ़ करके कोई उत्तम नहीं है तो उत्तम हो सकता है उत्तम ही होगा ना अनुत्तम होगा अनुत्तम नहीं होगा जिनसे बढ़ करके कोई उत्तम नहीं वो अनुत्तम नहीं है अनुत्तम भी है अविद्यमान उत्तम ये जिनसे बढ़ करके उत्तम नहीं वो हो गए अनुत्तम अनुत्तम हो गए उत्तम नहीं हो गए उत्तम भी अनुत्तमेशु यहाँ क्या समास होगा अनुत्तमेशु बहुत नया समास तत्पुर नहीं इसको वारण करने के लिए उत्तम दिया नहीं तो अनुत्तम का तो उत्तम भिन्न अर्थ हो जाएगा लोकेश इदम बाबत जिस सबके ऊपर प्रकाश माने यह वही है यद इदम अस्मिन अंत पुरुष ज्योति पुरुष के अंदर जो ज्योति है वही है यहाँ जो ज्योति है ये परमात्मा तर्प है ब्रह्म ज्योतिष शरणाभिधानात ये ब्रह्म सूत्र है ज्योतिर्ब्रह्म है शरणाभिधानात क्योंकि उसका भी चार पाद कहेंगे चरण है पाद कथन कम से यहाँ ज्योति पर ब्रह्म है अंत पुरुष ज्योति पुरुष के अंदर जो प्रकाश है तसेषा दृष्टि उसकी दृष्टि है यत्र तदस्मिन शरीर संस्पर्श उसमें उष्णिमान जानती मरते समय देखते शरीर में गर्मी लगता है मर गया नहीं मरा जिंदा है कुछ नहीं बोलता है तेरे में हाथ रहता है गर्मी अभी जिंदा है तो देखते देखते ठंडा हो जाता मर जाता है यहाँ हाथ एक महात्मा क्या शरीर समाप्त हुआ हाथ पर ठंडा हो गया यहाँ देखा थोड़ा गर्म है बाद में यही थोड़ा गर्मी लगता है फिर थोड़े समय देखा ये भी ठंडा हो गया बिल्कुल संस्पर्श न संस्पर्शन जाना थी गर्मी दिखता है तस्से सा श्रुति उसके श्रवण का शब्द पर ज्योतिर्प ब्रह्म का यत्रे तत् कर्णावपि गृह निर्णतव नदत्व अग्निव ज्वलत उपस्मृति कान बंद करके सुनता है अपिगृह कर्ण अपिगृह कान को बंद करके रथ से वो घोष यदि नधमेव रथ के घोष के समान नदतुरीव वृषभ के शब्द के वृषभ जैसे करता है नदतुरीव अग्निरिव जलत अग्नि जलते जैसे शब्द करके इसे उपस्थित सुनते कान बन करके ये ब्रह्म का ही दर्शन श्रवण दर्शन का तो ज्ञान स्पर्श के द्वारा जानते हैं तदेत दृष्टम चुतम चेत उपासित दृष्ट श्रुत दृष्टत्व श्रुतत्व दो गुण से युक्त ब्रह्म की उपासना करें चक्षुष श्रुत भगवती या एवं वेद या एवं वेद दृष्टत्व गुण से उपासना करने से स्वयं चक्षुष्य चक्र के प्रिय हो जाता है और गुण से भी ब्रह्म की उपासना करने से स्वयं श्रुत प्रसिद्ध हो जाता है ये ब्रह्म सूत्र में इसके ऊपर विचार आया यहाँ जो ज्योति दिया अथ या दत्ता पर दिव ज्योति दिखते ये स्वर्ग में जो ज्योति कौन सूर्य आदि प्रकाश है या क्या है तो ज्योति शब्द से ब्रह्म क्या है ज्योतिष चरणाधिखानाथ उसे ब्रह्म सूत्र है अथ यद विद्वान सर्गलोकम वीर पुरुष सेवनात् प्रतिपद्यते वीर पुरुष सेवन करने से उपासना करने से विद्वान सर्गलोकों को प्राप्त करता है यश उत्तम त्रिपाद श्यामृतम दिव्य तदिदम लिंगे न चक्षुसूत्र इंद्रिय गोचर आपादित यह श्रोतम त्रिपाद श्यामोतम देवी तीन पाद अमृत है सर्व प्रतिष्ठित है द्योतनवती प्रकाशात्मक सर्वम इसको लिंग हेतु के द्वारा बताते हैं चक्षु सत्र इंद्रिय गोचरम आपादित चक्षु सत्र इंद्रिय के विषय को प्राप्त करता है ऐसे दिखाना है यथा अग्नि आदि धूमादि लिंग में धूमादि लिंग में अग्नि आदि ज्ञाए तो ज्ञाप्य अग्नि आदि का ज्ञान होता है ठीक है नहीं परस्मात दिवो दीप्यमान ब्रह्म पौक्षे ज्योतिषी प्रतीक अध्यक्ष परस्ता दिव दिवलोक के ऊपर जो प्रकाशमान ब्रह्म है दिवलोक के ऊपर प्रकाशमान है ज्योति ब्रह्म उसको पौक्षे पेट के अंदर जो ज्योति उसी ज्योति में अध्यक्ष आरोप करके एक ही ब्रह्म दृष्टि पेट में जो गर्मी है ज्योति है उसमें ब्रह्म की दृष्टि आरोप करके दृष्टत्व सुतत्वाभ्याम उपासित दृष्टत्व सुतत्व दो गुणों से युक्त ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए यदि सौतम अर्थ सिद्धवत कृत्वा श्रुति का कहा गया अर्थ सिद्ध जैसे करके आर्थिकम अर्थम या तात्पर्य आर्थिक जो अर्थ अर्थ से जो सिद्ध होता है अर्थ उसको लेकर दुख से तात्पर्य करते तो हैं यद सो विद्वान सर्वम लोक वीर पुरुष सुगनाथ प्रति करते थे योक्तम त्रिपाश्याम तंदिवेति तदिदम लिंगेन चक्षुषत्रेन्द्र गोचरम आपादितव्यम टीका में वीराणाम वीरवताम आदित्यादिना पुरुषाण सेवनाथ वीर पुरुष सेवनाथ वीर पुरुष वीर वाले तो वीर का वीरवता सामर्थ्य वाले आदि इत्यादि में पुरुषाण सेवना आदि आदित्यादि पुरुष का सेवन ये वीर पुरुष का सेवन है सेवन क्या है उनका आध्यानाथ सेवनाथ का तो आध्यानाथ आदि पुरुष जो देवसुची में पाल है उनके ध्यान से ध्यान से यह दोस्तों सर्गलोकम है उनकी उपासना करके स्वर्गलोक प्राप्त करता है वीराणाम बीजवताम आदित्यादिनाम पुरुषाणाम सेवनाथ आध्यानाथ इत्यादि वीर पुरुष सेवनाथ आगे भाष्य में लिंग लिंगे ना चक्षु सत्र इंद्र गोचरम आपादितव्यम लिंगेन स्पर्श विशेषेण श्रवण विशेषण च स्पर्श विशेष सर्प के स्पर्श के द्वारा और शब्द श्रवण से उसका ज्ञान करा देंगे चक्षु सत्र इंद्रिय गोचरण चक्षु सत्र गोचरण आता देते हैं चक्षु और श्रवण इंद्रिय के विषय मत दृष्टि प्रति दृष्टम सुतम च मया आपादित दृष्टम सुतम मया मैंने देखा मैंने सुना मत दृष्टि प्रति दृष्टम सुतम यदि गुण से उपासना करना चाहिए अन्यथा दृष्टत सुतताभ्याम ब्रह्मण ज्ञानासिधि दुष्टत्व शीतत्व इस गुण विशिष्ट ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा ये मया दुष्टम मया सुतम दृष्टि अपेक्षा करके इसे ज्ञान करना परस्या प्रतिपत्तो लिंगन प्रत्यायन है पर ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है तो लिंग हेतु के तरह का ज्ञान कराते हैं इसमें दृष्टान्त दिया यथा अग्नि आदि धूमादि लिंग अग्नि नंद कितने से धूम लिंग से अग्नि का ज्ञान कराते हैं इसी प्रकार विप्रतिपन्न प्रति घुमादि अग्नि प्रत्याय तथा स्पर्शादि लिंगेन दुष्टत्वादि विप्रतिपन्न विरुद्ध प्रतिपन्न जो विपरीत ज्ञान वाला भ्रांत है धूमादि लिंगेन अग्नि प्रत्यायते धूमादि चिन्ह को देख करके पर्वत में अग्नि आदि का ज्ञान कराया जाता है पर्वत वन्यमान धुआं तथा स्वर्गादि लिंग शब्दत्वादि विशिष्ट निगम प्रत्येतम क्या है स्वर्ग को प्राप्त कर गया है स्वर्गादि लिंग से दृष्टत्वादि विशिष्ट इधम प्रत्येक दृष्टत्वादि विशिष्ट ऐसे प्रार्थना करे अच्छा, क्या मैं कह रहा स्वर्ग हाँ स्पर्शादि लिंग स्पर्श होता है गर्म स्पर्शादि लिंग स्पर्श है उष्ण स्पर्श होता है इसी लिंग ज्ञापक से दृष्टत्व सुतत्व आदि विशिष्ट ब्रह्म का उपासना करना चाहिए यथोक्त से ज्योतिष लिंगेन प्रत्यायन किमित क्रिया क्रियते तथा जो ज्योति है प्रकाश रूप परमात्मा उसका ज्ञान प्रत्यायन ज्ञापन लिंग से क्यों करते तथा तथा ही तथा ही एवं एवं इदम यथोक्त से दृढ़ इसके ऐसे श्रुति से सुनने पर भी लिंग के द्वारा निश्चय होता है अनुमान के द्वारा तो एवं ही एवं एवं इधम यह ऐसा ही है इसे अर्थ में दृढ़ निश्चय होता है विपत्तिपन लिंग द्वारा तस्य प्रत्याया में सती गुणों वे विष्णम वे वेदम ज्योतिर्लाने था इतने व्यथोक्ते परस्मिन उपास्य ज्योतिषी दृढ़ादी अध्यास तद अभाव तदगुण से ज्योतिष अध्यान अध्यानादित लिंग द्वारा तसे प्रत्याय सकती लिंग के द्वारा परमात्मा का ज्ञापन होने पर गुणव्य विशिष्ट में वेदम ज्योति मान्यता तो गुणव्य विशिष्ट ज्योति उपास्य है सिद्ध होगा मान्यता अन्य प्रकार में गुण सिद्ध नहीं होगा तो उसके वस्तु का भी वस्तु की सिद्धि नहीं हो उपनोदय तो कभी सिद्धि नहीं होगी इतम यथोक्त परस्मिन उपास्य ज्योतिष सिद्धादि जो यथोक्त परिस परस्मिन परस्मिन का तो पर ब्रह्म परस्मिन उपास्य ज्योतिष जो उपास्य रूप ज्योति परमात्मा ब्रह्म है उसमें दृढ़ा आदि दृढ़ निश्चय हो जाए तद अभाव तदगुण से ज्योतिष अध्ययन तद अभाव दृढ़ अभाव यदि दृढ़ बुद्धि नहीं हो पर ब्रह्म में तो तदगुण से ज्योतिष अध्ययन उसका गुण जो ज्योति उसका ध्यान नहीं हो सका है दृढ़ निश्चय होने पर ध्यान होता है महाभूत पर ज्योतिष यथोत गुण से अशेष उपासन किसी आसन क्या जो इसे दुष्टत्व सुतत्व गुणों वाले आर्ध ब्रह्म है उसका गुणों के अशेष उपासना नहीं संख्या अन्य तथा एवं इदमी इदमिति यथोत्यर्थ क्रियापति अन्यत्वेन च निश्चय अभिनव से निश्चय होता है कौक्षय से ज्योतिषी सन्निकषा जीवाभिद परिकल्प्य जाठरम ज्योतिर्ब्रह्म अन्य ध्यान जीव ब्रह्मणों एक निश्चय से अर्थात सिद्ध्यति कौक्षय ज्योतिष सन्निकषा है पेट में होने वाली करता है जीवावेदन परिकल्प के में होता है जीव से अभिन्न है परिकल्प ज्योति भी जाठरम ज्योति ज्योतिर्ब्रह्म जात्राग्नि भी ब्रह्म है अनन्य से होने से ध्यान करने पर जीव ब्रह्म और एकतया जीव भी और ब्रह्म दोनों के शुद्ध चेतन है निश्चय निश्चय अर्थात शुद्ध है ये अर्थ अच्छा से सिद्ध हो जाएगा जीव के से अभिन्न पौचे ज्योति से कल्पना करके जाकर ज्योति ब्रह्म से चिंता न करना जो जीव है वही ब्रह्म है अतो यथोतापास्त्री अर्थवती एक उपासना सार्थक है अर्थ शब्द से विद्यांत आरंभार्थत्व अभिपेत्य अनंतर ग्रंथ से तात्पर्य मुक्त अवशिष्टा अक्षरा अवतारे जागृति अथ यदत प्रतिबुद्ध आगे उत्तर अवतार आह यदत अथ शब्द अथ शब्द से विद्यांतर आरंभार्थकम अभिप्रत्य अथ यदत पर दिवज्योति का ये अथ पूर्व उपासना समाप्ति के बाद दूसरी उपासना है विद्यांतर उपासनांतर आरंभार्थत्व अभिपेक्ष अन्य उपासना के आरंभ करने के लिए अतः ऐसा मान करके अनंतर ग्रंथ से तात्पर्य अनंतर ग्रंथ का तात्पर्य का तात्पर्य करके अवशिष्टा अक्षा अवतारे व्याकृति अतः यद अतः पर जीव ज्योति ये मंत्र का तात्पर्य कह करके अन्य शब्द को लेकर के व्याख्यान करते अतः यदो अथो पर्वदीव ज्योति अतो अत कहता अनुस्वार दिव दीवलोक से दीवलोक ऊपर जो ज्योति ज्योति शब्द नपुंसक होने से पर का मंत्र में परम करना पड़ेगा यद परो दिव ज्योति दिवो क्या ज्योति है परो दिव ज्योति ज्योति मंत्र में यद परो दिव ज्योति बहुवचन परो कहाँ का रूप है करो बड़ा कठिन है प्रथम एक वचन है करो दीर्घ है पंचम एक वचन दीर्घ के ऊपर दीव से पर ज्योतिर्दिव्यते दीव दीव का अर्थ क्या दीवलोकात पर ज्योति नपुंसक होने से पर को परम कर दिया परम लिंग व्यक्ति है ना संद से लिंग व्यक्ति है तो परम होना चाहिए ज्योतिर्दिव्यते टीका में यदि उपक्रम में पर सहारा परहित पुलिंगा प्रयोग आशंका यद तपर जीव ज्योतिर्दीप यद से आरम्भ क्या वो भी नपुंसक है आगे ज्योति कहा नपुंसक इसलिए पुलिंग नहीं होगा पर नहीं परम होगा परमिति लिंग करते हैं ज्योतिर्दीप्यते कादाचित का प्रकाश स्वभाव कथम दीप्यते प्रयोग तथा कभी तो कभी प्रकाश हो तो कहीं ऊपर प्रकाश माने और तो नित्य प्रकाश हमेशा ही कालाजित का प्रकाश नहीं तो कथम दिक्कत से प्रयोग करेगी सत्रह स्वयं प्रभम सदात्म तत्वात् दिक्कते युव दिक्कते उच्यते स्वयं प्रकाश है सदा ही प्रकाश निरंतर दिक्कते युव प्रकाशमान होता जैसे दिक्कते कहते हैं कादाचित नहीं नित्य होने पर भी दीपति शब्द से प्रयोग करते हैं ठीक है तस्मात विवेदी प्रव्य से मुख्य में भी मान तो क्यों न सैद इत्याशंका इसमें कहा सदा प्रकाश का दीपत इव दीपति तो उच्यते दीपत इव क्यों प्रकाश मान तो होना चाहिए इवेति कस्मात इवेति प्रयोजते दीपत इव कह करके युव शब्द क्यों प्रयोग करते हैं मुख्य में भी दीप्यमान चौके में सर दीप्यमान मुख्य होना चाहिए एक आशंका है अग्नि आदि वत ज्वलन लक्षण है दीप्य असमवाद अग्नि में जैसे ज्वलन है प्रकाश है इसी प्रकार दीप्ति ज्वलन संभव नहीं है इसलिए यहाँ दीप्य से गिरो का अग्नि में जैसे प्रकाशमान है इसी प्रकार चेतन के द्वारा प्रकाश नहीं है ज्वलन लक्षण आदि ज्वलनात्मक जो दिखते नहीं होने से दिपति युव कहा हेतु उभयत्र संबंध ज्योति के साथ और दिव्यति के साथ अग्नि आदि वर्ग दिप्य असंभव दिप्य असंभव होने से ये ज्योति है और युवत होते हुए दिव्य दैव दिव्य दैव भी कहा तो ज्वलन लक्षण भी संभव नहीं होने चाहिए सर्व शब्द से असंकुचित वर्तित्व आत्मलोकित संविधित्व कथम तस्माद उत्तम ब्रह्म इतोपन्न इतिशंका सर्व शब्द से असंकुचित वर्तित्व सर्व अभिधेयम तमेता तार्किक लोग अनुमान करते हैं सर्वशब्द का संकोच नहीं होता है जितने देश हो लेते हैं असंकुचित असंकुचित असंकुचित वर्तते इत असंकुच असंकुचित वर्ती संकुचित में नहीं सर्व असंकुचित सर्वत्र है तो सर्वशब्द से सबका ग्रहण हो जाएगा आत्मलोक संगीत का आत्मा का भी ग्रहण हो जाएगा सर्व कथम तस्मात ऊर्धम ब्रह्म फिर आत्मा के ऊपर ब्रह्म कैसे होगा सर्वस्मात कौन से सर्वशब्द से आत्मा ग्रहण हो गया तस्मात ऊर्ध ब्रह्म के भवन आत्मा ही ब्रह्म है तो उसके ऊपर कैसे होगा इति आशंका संसारा संसारा तो ऊपर सबके ऊपर जो कहा तो पृष्ठ सूची तस्वीर व्याख्यान सर्वत पृष्ठ सूची सब के ऊपर सब के ऊपर तो संसार के ऊपर आत्मा को यदि सब के अंदर ले लिया तो ब्रह्म आत्मा अभिन्न ब्रह्म फिर उसके ऊपर नहीं होगा इसलिए संसार से ऊपर है ब्रह्म ठीक है तस्व सर्वशब्द वाच्य तो मुख्य संसार ही सर्वशब्द का वाच्य इसका प्रतिपादन करते हैं संसार एवं ही सर्व संसार ही सब कुछ है ठीक है तस् अनेक सर्वशब्द संसार अनेक है अनेक सर्वशब्द का योग्य होता है आत्मनि सर्वशब्द अनुपति महाराज आत्मा में सर्वशब्द का प्रयोग नहीं होगा अनात्मा वर्ग लेना है क्यों आत्मा में सर्वशब्द प्रयोग नहीं होगा असंसार में एकत्व निर्भेदत्व असंसारी एक है निर्भेद है इसलिए वहाँ सर्वशब्द प्रयोग नहीं होगा ठीक है सर्वशब्द से से अनेकार्थवाचित अनेकार्थवाचक के सर्व आत्मनिच एक आत्मा में एकत्व है एक ही प्रकार नित्य मुक्त तस्वीर असंभव उसमें कोई प्रकार नहीं रहेगा विशेष नित्य मुक्त आत्मा नहीं असंभव है न तसे सर्वशब्दा प्रतीति सर्वशब्द से उसकी प्रतीति नहीं होती है असंसारी ने एक निर्भेदत्व असंसारी एक है निर्भेद है सर्वस्व अनेकवाचक है आत्मा में एक एकत्व तो इसलिए न तसे सर्वशब्द आत्मा का तसे का आत्मा न सर्वशब्द से प्रतीत नहीं होगी उत्तम न भवंती थे अनुत्तम ते स्थिति अनुत्तम में क्या समास होगा उत्तम न भवंती थे अनुत्तमा क्या समझ हुआ उत्तम न भवंती के अनुत्तमा ये न तत्व से है उत्तम न भवंती के ते तेषुति तत्पुरुष आशंकायाम न तत्व से न उत्तम अनुत्तम ये तत्पुरुष शंका के आशा होने पर तनिवृत्ति द्वारा तत्पुरुष समास नहीं बना बहुबरी सिद्ध्यर्थम ये बहुबरी समाज अनुत्तम विशेषण मित्या तत्पुरुष भाष्य में अनुत्तमेशु तत्पुरुष समाज आशंका निवृत्त है आह उत्तमेशु लोकेशु यदि उत्तमेशु नहीं कहते अनुत्तम का अर्थ नए समाज हो तो तथा उत्तम से भिन्न किंतु उत्तमेशु कहने से अनुत्तम ही उत्तम तय बनेगा यदि बहुत समाज करेंगे तत्पुरुष समान आशंका निवृत्त है तत्पुरुष समाज तत्पुरुष समाज की आशंका निवृत्ति के लिए उत्तम कहा इसलिए उत्तम वाक्य में बहुवी है सत्यलोकादिशु हिरण्य गर्भादि कार्य कार्य से पर ईश्वर से आसनत्व आदिश्यते उत्तम से लोकेशुति सत्यलोकादि में हिरण्य गर्भादि कार्य से ऐसे पाठ है कार्य से कार्य क्या है तुरंत कार्य रूप से होना चाहिए क्या कार्य कार्य रूप से नहीं हाँ हिरण्य व्यवहार कार्य रूप इसमें भी हिरण्य गर्भारी कार्य परस्य हिरण्य गर्भारी कार्य कार्यस्थ परस्य दिया है हिरण्य गर्भारी कार्य रूप परस्य टीका दिया हिरण्य गर्भ आदि तत्कार्यात्मना परम ब्रह्म तत्व से हिरण्य गर्भ लेना हिरण्य गर्भ आदि कार्य रूप से स्थित परम ब्रह्म उत्तम से लोकेशित उच्यते हिरण्य आदि कार्य रूपस्थ पर से हिरण्य आदि कार्य रूप से स्थित ये पर ब्रह्म है ईश्वर है वह आसन से उत्तम से कहा गया उत्तम कार्य हिरण गर्भादि कार्य रूप से स्थित है परमात्मा उसके आसन है तसे सर्वत्र सतोपि लुकादि से हिरण गर्भादि आत्मनातीत नित्य आयोगत्वादि करता यद्यपि पर ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वत है तो भी सत्यलोकादि में हिरण्य के आत्मा अतीत नित्य अभिगतत्वाद सत्यलोक में परमात्मा हिरण्य गर्भ से स्थित है अतिशय अभिनित्य अभिगत नित्य है और अभिव्यक्त होते ही निवर्मा इसे उसको कहा उत्तम ओम आप